सुबह हल्की सी धुंध अभी भी हवा में तैर रही थी और राठौर परिवार के विशाल विला के बीच बने मैदान में एक अलग सा माहौल था ईटों से ढका यह मैदान आज किसी मेला जैसा सजा हुआ था चारों तरफ राठौर खानदान के लोग जमा थे कुछ उत्साहित थे कुछ तनावग्रस्त हवा में हल्की सी ठंडक थी और दूर कहीं पेड़ों के पत्तियों से हल्की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी मानो वो भी आज इस खास दिन का हिस्सा बनना चाहते हैं आज राठौर परिवार के नए कुलपिता को चुनने का दिन था और पिछले तीन महीने से यह पद खाली होने की वजह से खानदान में एक अजीब सी बेचैनी थी सोलह साल का एक नौजवान भीड़ के बीच खड़ा ये सब देख रहा था उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ उसके कंधे सीधे थे और वह अपने पिता तेजेंद्र राठौर को इस बड़े मौके पर गर्व महसूस कराना चाहता था तेजेंद्र मैदान के बीच खड़े पांच मध्य युवा पुरुषों में से एक थे जो कुलपिता बनने की दौड़ में शामिल थे हर एक की नज़र उस कुर्सी पर थी जो राठौर खानदान की ताकत और सम्मान का प्रतीक मैदान के चारों ओर राठौर खानदान के करीब 300 जूनियर कुलीन बच्चे खड़े थे उनके चेहरों पर उत्साह और जिज्ञासा थी कुछ अपने दोस्तों से फुसफुसा रहे थे कुछ चुपचाप इस ऐतिहासिक पल को देख रहे थे मैदान के किनारे बने पत्थर के स्तंभों पर सुबह की धूप पड़ रही थी और हल्की सी सुनहरी चमक पूरे दृश्य को और भव्य बना रही थी अचानक एक भारी और व्यंग भरी आवाज सन्नाटे को तोड़ा तेजेंद्र राठौर तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारे खानदान के कुलपिता बनने के लिए खास शर्त है यह राबिक राठौर था एक अधेड़ उम्र का शख्स जिसकी मोटे भावे और भूरे बाल उसे और भी रूबीला बनाते थे वह राठौर खानदान की शक्तिशाली शाखा का सेनापति था और आत्मा आयाम के सातवें स्तर पर था उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी और ओठों पर हल्की सी मुस्कान जो तंज और आत्मविश्वास का मिश्रण थी तेजेंद्र की आंखें गुस्से से सिकुड़ गई उनकी भावें तन गई और चेहरा सख्त हो गया उन्होंने ठंडे लेकिन दृढ़ लहजे से जवाब दिया हाँ रवि मुझे अच्छी तरह पता है कुल पिता के रिश्तेदारों में खास काबिलियत होनी चाहिए ताकि खानदान के संसाधनों का दुरुपयोग न हो उनकी आवाज़ में गहराई थी जो भीड़ को छुप कर गई चेतन जो भीड़ के बीच खड़ा हुआ सब सुन रहा था अपने पिता के शब्दों पर गर्व महसूस कर रहा था उसकी माँ का देहांत हो चुका था और तेजेंद्र ही उसका एक लौता करीबी रिश्तेदार था चैतन्य ने कभी अपनी माँ के बारे में ज़्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि वह अपने पिता का दर्द और बढ़ाना नहीं चाहता था लेकिन आज राविक की बातें सुनकर उसका खून खोल रहा था वह जानता था कि उसके पिता उसकी ताकत को छिपाना चाहते थे ताकि कोई जरन या खतरा पैदा ना हो पर राविक का तंज अब हद पार कर रहा था राविक ने ठहाका लगाया और उसकी हंसी में तिरस्कार साफ छलक रहा था <laughs> लेकिन तुम्हारा बेटा उसके पास तो आध्यात्मिक सिराएं भी नहीं है अगर तुम कुलपिता बन गए तो क्या उस पर ढेर सारी असमनियाँ और रूहानी जड़ी बूटियाँ खर्च नहीं करोगे सब जानते हैं तेजेंद्र तुमने उस बेकार लड़के पर कितने पैसे खर्चे हैं उसकी बातें चुभ रही थी और भीड़ में कुछ लोग चिपके चिपके हंसने लगे उनके चेहरों पर मजाक और सहानुभूति का मिश्रण था चैतन्य का चेहरा गर्म हो गया उसकी मुठियाँ कस गई पर वह शांत रहा उसने अपने पिता की ओर देखा जिनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी शायद गर्व शायद विश्वास तेजेंद्र ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर के साथ कहा मेरा बेटा मेरा बेटा ज्योति अग्नि को काबू कर सकता है उसमें हकीम बनने की काबिलियत है कौन कहता है वो बेकार है शायद खानदान के को की कोई और राय होगी भीड़ में घुसर फुसर तेज हो गई चैतन्य के बारे में बात पहले से ही वीरन शहर में आग की तरफ फैल चुकी थी कि कैसे उसने स्पिरिट रसमनी हॉल में गुरु का शिष्य बनने से मना कर दिया था लेकिन लोग जानते थे कि भले ही उसके पास आध्यात्मिक सिराय ना हो लेकिन वह ज्योति अग्नि को नियंत्रित कर सकता था जो अपने आप में ही असाधारण बात थी कुछ लोग उसके हिम्मत की तारीफ करते थे तो कुछ लोग उसे सनकी समझते थे राविक ने फिर हंसते हुए कहा लेकिन उसने गुरु का शिष्य बनने का मौका ठुकरा दिया बिना गुरु के वह हकीम कैसे बनेगा सपने देखना बंद करो तेजेंद्र उसकी हंसी में कुतरता थी और वह चैतन्य को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था तभी चैतन्य की शान लेकिन दमदार आवाज मैदान में गूंजी मैं अभी निम्न श्रेणी की मतरे देह रश्मनी को परिष्कृत कर सकता हूँ उसकी आवाज इतनी स्पष्ट थी कि हर कोई छिटक गया भीड़ में सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें चैतन्य पर टिक गई कलाविक ने पहले तो हंसा फिर ठंडे लहजे में बोला क्या सोलह साल का लड़का और रसमनी बना लेगा चैतन्य झूठ बोलने से तुम्हारे पिता को कोई फायदा नहीं होगा और मेरे सामने ऐसी बात की तो सजा भी हो सकती है उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी और उसका चेहरा तमतमा रहा था चैतन्य भीड़ से आगे बढ़ा उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी उसने रावी की आंखों में आंखें डालकर देखा और अपने हकीम पट्टी जमीन पर रखी और तीखी नज़रों से देखते हुए बोला क्या तुम मुझे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो चाचा मैं एक ही कोशिश में मदर देहरस बना सकता हूँ अगर मैं जीता तो तुम सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगोगे भीड़ में सन्नाटा छा गया कोई किशोर इतनी हिम्मत कैसे कर सकता था रवि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया वह चैतन्य को सबक सिखाना चाहता था लेकिन तेजेंद्र की मौजूदगी उसे रोक रही थी उसने दांत पिसा और कहा क्या तु, तुमने क्या कहा उसकी आवाज में गुस्सा और हैरानी थी तेजेंद्र ने अपने बेटे की ओर देखा उनकी आंखें गर्व से चमक रही थी और उन्होंने सिर हिलाकर चैतन्य का समर्थन किया मेरा बेटा मेरा बेटा सही कह रहा है मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ उन्होंने विश्वर में कहा है राबिक ने गुस्से से चिल्लाया ठीक है शर्त मंजूर है अगर तुम हार गए तो तुम्हारा बाप कुलपिता की दौड़ से बाहर हो जाएगा अगर अगर मैं हारा तो मैं तुम्हें अपनी एक हजार साल पुरानी रक्त तत्व पुष्प दूंगा भीड़ में हलचल मच गई एक हजार साल पुरानी रक्त तत्व पुष्प यह कोई साधारण चीज नहीं थी यह एक बेशकीमती रूहानी जड़ी बूटी थी जिसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं कुछ लोगों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा तो कुछ ने चैतन्य की हिम्मत की तारीफ एक बुजुर्ग जिनका चेहरा अनुभव और गंभीरता से भरा था ने बीच में आकर कहा शर्त ठीक है लेकिन माफी मांगने की बात छोड़ो अगर चैतन्य जीत गया तो रावि तुम उसे उचित मुआवजा दोगे तेजेंद्र ने सिर हिलाया अगर मेरा बेटा हारा तो मैं कुलपिता की दौड़ से हट जाऊंगा उनकी आवाज में एक अटल विश्वास था उसकी नज़र चैतन्य पर टिकी थी चैतन्य ने बिना वक्त गवाए अपनी हकीम भट्टी को मैदान में को मैदान के बीच रखा और पालथी मारकर बैठ गया उसकी हर हरकत में आत्मविश्वास झलक रहा था उसने अपनी भंडारण थैली से उसने अपनी भंडारण थैली में से जड़ी बूटियाँ निकाली और सावधानी से चुना और भट्टी में डालना शुरू किया उसकी उंगलियां तेज लेकिन सधे हुए अंदाज में चल रही थी भीड़ की नज़र उस पर टिकी थी और हवा में एक अजीब सा तनाव था जब उसने ज्योति अग्नि को भट्टी में डाला तो हल्की से सुनहरी चमक चारों ओर फैल गई भीड़ हैरान थी ज्योति अग्नि के इतने नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करना कोई आसान बात नहीं थी चैतन्य की लौ इतनी स्थिर थी कि मानो वह अग्नि से बात कर रहा था उसकी आंखें भट्टी पर टिकी थी और चेहरा पूरी तरह से एकाग्र था हवा में हल्की सी गर्मी फैल रही थी और भट्टे से निकलने वाली गंध ने सबको अपनी ओर खींच लिया था एक घंटे बीत गए चैतन्य की भावे अचानक फड़की और उसका चेहरा तनाव से खत्म हो गया भीड़ को समझ आ गया था कि वो रसमनी बनाने के सबसे मुश्किल प्रक्रिया में था राबिक जो दूर खड़ा उसे देख रहा था पसीना पसीना हो रहा था उसकी आंखों में डर था अगर चैतन्य जीत गया तो उसकी रक्त तत्व उस पर चली जाएगी उसने अपनी मुठ्ठियाँ कस ली और चेहरा गुस्से से और चिंता से भर गया अचानक पट्टी से हल्का धुआं उठा और एक यूची से जड़ी बूटी की खुशबू हवा में फैल गई चैतन्य ने आंखें खोली और एक हल्की लेकिन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ खड़ा हो गया कृपया इनका निरीक्षण कर ले उसने शांत स्वर में कहा इस सभी कंस्ट्रक्शन की कंस्ट्रक्या भीड़ में से हैरान आवाज़ें उठी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और कुछ ने तो अपनी सांस रोक ली बुजुर्ग ने धीरे धीरे पट्टी का ढक्कन खोला जैसे ही ढक्कन हटा एक ताज़े जड़ी बूटी खुशबू ने सबको मंत्रमुक्त कर लिया भट्टी में पांच चमकदार बर्फ जैसी सफ़ेद रसमनिया पड़ी थी उनकी चमक इतनी साफ थी कि मानो वे सुबह के ओस के बूंद हों भीड़ खुशी से चिल्ला उठी कुछ लोग तालियां बजाने लगे तो कुछ चैतन्य की ओर देखकर सिर हिलाए चैतन्य ने रावी की ओर देखा और उसकी आंखों में जीत की चमक थी तो चाचा अब क्या कहते हो उसकी आवाज़ में हल्का सा तंज था लेकिन चेहरा शांत और गंभीर था तेजेंद्र ने अपने बेटी की ओर देखा और उनकी आंखें गर्व से चमक रही थी भीड़ में से कुछ लोगों ने चैतन्य की तारीफ करना शुरू कर दिया तो कुछ रावी की ओर देख रहे थे जो अब चुपचाप खड़ा था उसका चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से भरा हुआ था